ओम साखी केवल परिषद प्रथम खंड के तृतीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ था और भाष्य हो गया था आगे वाक्य भाष्य वहां किया मंत्र में जहां नतत्र तत्व चक्षुर गच्छति नवाग गच्छति वो मनो न कुमा न बीजानी यथा ये कदम शिष्या अन्यदेव तदीता अथवा अभिता अति यदि सूक्ष्म न तत्र चक्षु गच्छति मैंने इस ब्रह्म का बतलाना ब्रह्म को बतलाना बड़ा कठिनाई है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है न तत्र चक्षु गच्छति उस ब्रह्म में चक्षु नहीं जा सकती रूपादि को जैसे घेर लेती है चक्षु वैसे ही उस आत्मा में नहीं जा सकती न बाढ़ गच्छति मन भी नहीं जा सकती वाणी भी नहीं जा सकती वाणी के द्वारा विषय का प्रकाशन होता है स्वर्गो अस्थि बोला वाणी से बोला स्वर्ग है हमारे बुद्धि में बैठ जाती है स्वर्ग है वाणी में शक्ति है भूत भविष्य वर्तमान और संबद्ध हो असंबद्ध हो सभी का ज्ञान कराने शक्ति है वाणी नौ मानव करके मन का निषेध कर दिया पौधारी शक्ति है सभी वस्तु का प्रकाश करने शक्ति है किंतु संसार के पदार्थों को ही प्रकाश करने में सामर्थ्य संसार के पदार्थ दो विभाजन में दो विभाग में विभक्त है एक कार्य रूप में और एक कार्य रूप में उसी को यहाँ विदित और अविदित शब्द से कहा गया है आत्मा विदित और अविदित दोनों से भिन्न है आत्मा को जानना भी नहीं बनता न जानना भी नहीं बनता ऐसी स्थिति है आगे द्वितीय खंड में शिष्य का उद्बोधन समझेंगे आत्मा हम मन सुवेदे की नोन वेदे दिवेद ऐसा बोलते मैं सुवेद भी नहीं बोलता हूँ अवेद भी नहीं बोलता नहीं जानता हूँ ऐसा भी नहीं जानता हूँ ऐसा भी नहीं आत्मा का ज्ञान होगा तो इसी तरह से जिसको जाना जाता है अपने से भिन्न को जानना होता है अयम घटा सामने घड़ा हो अयम घटा अयम मनुष्य ये जाना जाता है फिर से भिन्न होगा आत्मा अपना स्वरूप है तो उसको इस तरह से मैंने कर्ता और कर्म भाव से जानना संभव नहीं है इधम अहम जाना इसको मैं जानता हूं किंतु मां अहम जाना भी नहीं होगा तो सुवेदा भी नहीं होता अवेदा भी नहीं होता नहीं जानना भी नहीं बनता क्यों जिसके ज्ञान पूर्वक सभी का प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है वस्तु की सिद्धि में ये घट है कहने में पहले हम होंगे और हम चक्षु प्रमाण के द्वारा अयम घटक हो चक्षु प्रमाण देंगे चक्षु प्रमाण के द्वारा मैं घट को सिद्ध करूंगा ये बुद्धि पहले होगी मैं मैं आप ऐसी स्थिति हो तो नहीं जानना भी नहीं बनता जानना भी नहीं बनता किंतु यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं आत्मा ज्ञान का विषय नहीं होता विषयत्व ज्ञान का विषय नहीं होता ये कहना चाह रहे हैं न तत्व गच्छती न वाक गच्छती न मनो ये तीनों का निषेध से चक्षु शब्द से सभी ज्ञान इंद्रियों को समझना उपलक्षण की दृष्टि से देखना और बाघ शब्द से सभी कर्म इंद्रियों का विषय विषय नहीं होता समझना और मन शब्द से अंतकरण जो प्राण है मन है सभी के विषय नहीं होता ऐसे न विद्मा न विजानी हम नहीं जानते हैं सामान्य ज्ञान भी नहीं है विशेष ज्ञान भी नहीं है माने आक्षेप के रूप में बोल रहे हैं बार बार शिष्य पूर्व मंत्र में कहा था स्त्रोत्र से स्त्रोत्र इत्यादि बताया गया था शिष्य बार बार आक्षेप कर रहा है कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ आक्षेप कर रहा है इसलिए बोलते हैं हमारी बस है न विद्वान न विजान में ये वेद का शब्द है अथवा आचार्य का शब्द है दो में से किसी वेद का शब्द है ऐसे हम भाष्य टीका के ब्रह्म यथा यथा ब्रह्म शिष्य इस ब्रह्म का जिस प्रकार उपदेश करना चाहिए शिष्य को हम घटादि के विषय में उपदेश कर सकते हैं उपदेश कर सकते हैं अपने से भिन्न होता है उपदेश कर सकते हैं किंतु जिस ब्रह्म की चर्चा यहाँ हुई है निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा आत्मा की चर्चा वह आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रह्म घटादि ये सब भिन्नत्व विषय नहीं होता इसलिए न विद्वा न विजान अपने से भिन्न को जानना सरल होता है स्वयं को जानना कठिन होता है जानना नहीं बनता नहीं जानना भी नहीं बनता है आगे द्वितीय कर्म स्पष्टीकरण हो जाएगा यथा ये तत् अनुशिष्यात कहा जिस प्रकार इस ब्रह्म का इस आत्मा को उपदेश कर सके कोई निर्विशेष है कोई विशेष हो तो बता देते व्यक्ति के परिचय का चार कारण होते चार निमित्त होते जाति गुण क्रिया संबंध जाति से परिचय कराया जाता है अयम ब्राह्मण अयम क्षत्रिय ऐसा जाति से परिचय होता है परिचय चार होते हैं जाति गुण अयम कृष्णा अयम गौरा इत्यादि गुण से बोला जाएगा और जाति गुण क्रिया क्रिया के द्वारा जैसे पाचकम गंगा इत्यादि बोलेंगे जाने वाले को गंगा बोलेंगे गमन क्रिया को लेकर के गंगा और जब पकाने लग जाए तो पाचक इत्यादि बोलेंगे पूजा करने लग जाए तो पूजा का क्रिया के द्वारा तब तक क्रिया के द्वारा व्यक्ति का ये पुजारी है ये भंडारी हम प्रयोग करते हैं तो क्रिया को लेकर प्रयोग करते हैं पूजा करता है ये पुजारी भंडार में काम करता है इसे भंडारी ऐसा होता है एक संबंध बड़े आदमी के संबंध हो चाहे छोटे आदमी का संबंध तो संबंध दिखा करके भी परिचय कराया जाता है जैसे रावण के साथ हो जाता है तो आत्मा में न जाति है न गुण है न क्रिया है न संबंध है चारों ही है इसलिए इसको बदलाना कठिन है यथा एक एकवान शिष्य इस ब्रह्म के उपदेश जिस प्रकार हो सके ये हम नहीं जानते मैंने वेद स्मृति के आधार पर आचार्य को वचन नहीं ऐसा फिर भी कुछ तो समझाओ कुछ तो समझाओ करने पर कहा अन्य देव अभिता तथोविता अधिक इस ऐसे वाणी हमने गुरु परंपरा के मुख्य श्रवण से सुना है गुरु परंपरा के माध्यम से सुना है कि वो विदित से भी अन्य होता है अविदित से भी अन्य होता है ऐसा हमने सुना विदित होता है कार्य और अविदित होता है कारण हमारे संसार पदार्थ दो विभाजन है हिरण्य गर्भ से नीचे जितने भी हैं कार्य कोटि में आ जाते हैं व्याकृत बोलते हैं मतलब सूर्यभूत जो इसको व्याकृत कहते हैं कार्य कहते हैं और हिरण्य गर्भ का भी जो कारण है वो अव्याकृत शब्द से कहा जिसको माया अज्ञान अविद्या आदि शब्द से कहा जाता है वो अविदित होता है और कार्य वर्ग विदित होता है विदित कैसे होगा परराष्ट्र में कहा था किंचित कश्यचित और क्वचित तीन शब्द दिया था किसी में किसी का विषय बनेगा हमारे विषय सब संसार के पदार्थ नहीं होंगे किंतु अन्य किसी का बनेगा कुछ अन्य का बनेगा कुछ अन्य का बनेगा ब्रह्मांड में सभी विषय बन जाते हैं किंचित शब्द दिया है कश्यचित किसी न किसी का विषय बनेगा और कोई ना कोई विषय बनेगा कोई ना कोई किंचित और कहीं ना कहीं विषय बनेगा यहां नहीं तो वहां बन जाएगा कहीं ना कहीं विषय बनेगा तो संसार के जो व्यापृत जगत है वो विदिति होगा सब हमारे लिए नहीं होगा किंतु कुछ दूसरे का होगा कुछ तीसरे का होगा इस तरह से पूरे के पूरे विदित है और कहीं में विदित है कोई स्वर्ग में विदित है कोई नरक में है कोई यहां है कोई पाताल में जहां भी है किसी न किसी के द्वारा विदित है भोग्य वस्तु व्याकृत वस्तु जो होगा स्थूलीकृत वस्तु कहीं न कहीं किसी न किसी को कोई न कोई अवश्य विदित होता है ये विदित शब्द है तो ब्रह्मांड के भीतर व्यापृत जगत सब विदित है और इससे भिन्न को अविदित बोलते हैं माने अव्यापृत बोलते हैं और जगत के कारण बोलते हैं महामाया बोलते हैं अविद्या बोलते हैं इत्यादि शब्द अज्ञान बोलते हैं इत्यादि शब्द है वो अविदित शब्द से कहा जाता है वो तो अनुमान का विषय बनता है प्रत्यक्ष विषय नहीं बनता आत्मा ये दोनों से भिन्न है पूरे संसार के बीच और संसार दोनों से भिन्न है अन्य देव तदविता दोनों से भिन्न है आत्मा तो उसको विदित कहना भी ठीक नहीं है अविदित कहना भी ठीक नहीं है ऐसी स्थिति है यदि सुश्रुभ पूर्वेशा नाम पूर्वजन का एक परंपरा को कहा आगम वचन सुना एक अस्त्र व्याचस्त्र जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके व्याख्या की यह आत्मतत्व ऐसा है विदित से विभिन्न है अविदित से भिन्न करके जिन्होंने हमें सुनाया है ऐसा कहा था तो पदराश्य हो गया आगे वाक्य भाष्य के लिए वाक्य भाष्य देखिए न तत्र चक्षु गच्छति उक्ते भी परिलुगे हेतु अप्रतिपत्य है संग्रह वाक्य है वाक्य भाष्य में संक्षेप में कुछ बोलेंगे फिर आगे विस्तार करेंगे ये व्याख्या करने की सही नहीं है इसको संग्रह वाक्य बोलते हैं संक्षेप में बोलना आगे व्याख्या करेंगे तो विवरण बोलेंगे संग्रह और विवरण शुरू होता है न तत्र चक्षु तृतीय मंत्र का प्रतीक दिया है न तत्र चक्षुर गच्छति इति भी आचार्य के द्वारा कहा गया है भाई उसमें चक्षु का चक्षु जा नहीं सकती है वाणी जा नहीं सकती है मन जा नहीं सकता बोल दिया है बोलने पर भी पर्यटक हेतु पर्यटक में हेतु है क्या है आक्षेप शिष्य का जरूर यह आक्षेप है इसलिए यहां पर बोलना पड़ रहा है न तत्र चक्षुर गच्छत सब बताना पड़ रहा है आक्षेप करने हेतु अप्रतिबद्ध है शिष्य को ज्ञान नहीं हो पा रहा अप्रतिपत्ति अज्ञान आत्म विषय ज्ञान नहीं हो पा रहा है एक कारण इसलिए आक्षेप कर रहा है कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ शिष्य का आक्षेप है उस आक्षेप के समाधान में हम कैसे बताएं क्या बताएं मैं चक्षु नहीं जाती है बाणी नहीं जाती है मन नहीं जाता है हाँ तो हम कैसे बताएं ये कहा ठीक है न तत्र चक्षुर इस बात के अर्थ हम संग्रह जो जो मतपत्र चक्षु गच्छति वाक्य है इसका अर्थों को संग्रह करते हैं संक्षेप में भाषण में बता देते हैं कहा आचार्य और उद्देवी तत्व आचार्य के द्वारा बता दिया था क्या बताया था पूर्व मंत्र में कहा था श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मन यद वाचो वाचम सौ प्राण से प्राण अति उच्च धीरा प्रत्यास्मान का अमृता भवन तो आत्मा का स्वरूप बता दिया था ना पूर्व मंत्र फिर भी ये जो फिर वह नतत्र चक्षु गच्छति तृतीय मंत्र क्यों कहा पड़ा होगा तो शिष्य जरूर यह आक्षेप कर रहा है तो इसके समझ में बात नहीं आई है जरूर आक्षेप कर रहा है ये ये तृतीय मंत्र का बीज है शिष्य का आक्षेप कर रहा ये कह रहे हैं नतत्र चक्षु गच्छति इस वाक्यार्थम संग्रह इस वाक्य का अर्थ का संग्रह करते हैं संक्षेप बोलते हैं आचार्य उत्तेजित तत्व आत्मतत्व का निरूपण आचार्य ने कर दिया आचार्य मुख से वेद ने किया गुरु से वेद में निर्भर करने पर भी शिष्य से अप्रतिपत्ति हेतु तो। शिष्य का अज्ञानी कारण बना हुआ है तृतीय मंत्र का बीज बना हुआ है कि शिष्य का अज्ञान शिष्य में अज्ञान है तो परियोगे हेतु यह आक्षेप करने परियोग माने आक्षेप शिष्य का जो आक्षेपी या कारण बना हुआ है देखो न तत्र चक्षु गच्छति यही कारण है मंत्र का बीज बना हुआ है उसका अक्षय बीज बना हुआ है न तब चक्षु गच्छति इत्यादि ये तब बिंदुओं की कहा इसका व्याख्या करेंगे संग्रह वाक्य कहा टिप्पणी है पांच और छह की टिप्पणी संग्रणाती के ऊपर संग्रणाती यदि अनंतर मतलब संग्रणाती के आगे कुछ अपेक्षित शब्द है बोलते हैं टीका में जो संग्रणाती बोल दिया उसके आगे कुछ अपेक्षित है अनंतरम अपेक्षित हो न तत्र यदि प्रतीक स्थलित प्रजाति संग्रहाती जाति न तत्र यदि ऐसा प्रतीक होना चाहिए था जैसे भाष्य में न तत्र दक्षिण गच्छति ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ भी संग्रहाती शब्द त्याग टीका में न तत्र यदि ऐसा होना चाहिए था प्रतीक होना चाहिए था वो प्रतीक स्खलित हो गया कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया ऐसा लगता है ये कहा छह नंबर में कहा गच्छति अर्थ शेष गच्छती इत्यर्थ गच्छति इत्यर्थ ऐसा यहाँ अर्थ शब्द जोड़ना होगा शेष लगाना होगा गच्छति के आगे ऐसा टीका में जो है नपत्र चक्षुर गच्छति तो गच्छति के आगे अर्थ जोड़ेंगे तो गच्छति इत्यर्थ ऐसा बन जाएगा बार अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं इसे गच्छति इतम वाक्यार्थम न नपत्र चक्षुर गच्छति ऐसा भी हो जाएगा गच्छति इस प्रकार के वाक्य के अर्थ का संग्रह करते हैं नपत्र चक्षुर गच्छति वहां चक्षु नहीं जाती ऐसा इतम योग्य वैसे जोड़ना कदाच प्रति का आदरण भी संबंध है उस तरह क्या होगा दूसरे प्रकार से भंगंतरण दूसरे प्रकार दूसरे प्रकार से भी प्रतीक का आदान संभव होगा न तो दक्षिण गति जो प्रतीक है इसके संग्रह करना भी संभव होगा कैसे शिष्य से अप्रतिपत्तिर हेतु हो शिष्य को अज्ञान है शिष्य को जानकारी नहीं हुई तृतीय मंत्र में जब बता दिया था द्वितीय मंत्र स्त्रोत्र से स्त्रोत्र मनसो बात से बात वाचो यही तो उपदेश है आत्मा का करने पर भी तृतीय पत्र क्यों कहना पड़ रहा है कि शिष्य को ज्ञान नहीं हुआ है वो अक्षर कर रहा है कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ यही शिष्य से अप्रत्यक्ष हेतु शिष्य का अज्ञान ही कारण बना हुआ है तृतीय बंध के बीच बना हुआ है तत्व विषय हम्म, हेतु आचार्य उक्त तत्व विषय के आचार्य ने तत्व का उपदेश कर दिया था द्वितीय मंत्र में कर दिया था स्त्रोत्र से स्त्रोत्र मानसो मना करके उपदेश कर दिया समझ नहीं पाया शिष्य यही कारण है अप्रतिपत्ति प्रयुक्त अज्ञान कारण से ही वह अक्षर का आत्मा का उपदेश द्वितीय मंत्र में कर दिया आचार्य किंतु उसको अज्ञान है शिष्य को प्रयुक्त परिमेगी तो अप्रतिपत्ति के कारण से आक्षेप करने में क्या हुआ न तो प्रगक्षित इत्यादि तो तृतीय मंत्र का बीज बन गया यही न तो प्रगक्षित इत्यादि शब्द से करना हुआ दुर्विज्ञ तो प्रतिपत्ति प्रयोजन प्रयोजनतया हेतु आत्मा जानना आत्मा को जानना इतना सरल नहीं है दुर्विज्ञ है विज्ञान है दूर अति अति दूर बड़े मुश्किल से जानने योग्य है दुर्विज्ञत्व का अप्रतिपत्ति प्रयोजन बना अज्ञान के प्रयोजन बना हुआ हेतु यही है दुर्विज्ञ आत्मा ये कहना चाहेंगे नहीं कि आत्मा का ज्ञान होगा ही नहीं बात नहीं इतर व्यापति के द्वारा ज्ञान हो जाता है विधि मुक्ष नहीं होगा किंतु निषेध मुक्ष हो जाता है परिचय दो प्रकार से परिचय होता है व्यक्ति का अयम अमुक ऐसा बोला जाएगा अमुक व्यक्ति है ये विधि मुक्ष हो अथवा ये व्यक्ति से भिन्न को निषेध कर देंगे ये व्यक्ति वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं जितने का निषेध कर देंगे तो अब शेष बच जाएगा ये अमुक व्यक्ति स्वतः ज्ञान हो जाएगा बोलना नहीं पड़ेगा वाणी का विषय नहीं होता तो इतर व्यापार के माध्यम से ही ज्ञान कराना है आत्मा का ज्ञान एक आत्मा ये तब विरोधी टीका लगा इसी को व्याख्या कर दें आप आगे जो भाष्य बता था नत्र चक्षु गच्छति उगते भी परिणति हेतु अप्रतिपत्ति कहा था नत्र चक्षु गच्छति ये जो है आचार्य द्वारा आत्मतत्व का ग्रहण करने पर ही परियोग में हेतु माने आक्षेप में हेतु है तत्र चक्षु गच्छति अप्रतिपत्ति शिष्य के ज्ञान वंश इसी को व्याख्या करते हैं भाष्य में श्रोत्र से श्रोत्र इतव आदिना उगते भी आत्मतत्व ठीक है श्रोत्र से श्रोत्र इत्यादि शब्दों के द्वारा द्वितीय मंत्र में बता दिया था श्रोत्र से श्रोत्र मनसोमना इत्यादि शब्दों के द्वारा आत्मतत्व का कथन हो गया है वो तो वही है श्रोत्र का भी साक्षी है मन का भी साक्षी है हाँ, यही तो है और वाणी का भी साक्षी है प्राण का भी साक्षी है यही है जिसके सामने में काम करता है वो आत्मा होता है समझना है तो शिष्य समझ नहीं पाया एक कहा श्रोत्र से श्रोत्र इतम आदिना इत्यादि वाक्यों के द्वारा मैंने द्वितीय मंत्र के माध्यम से उगते भी आत्मतत्व आत्मतत्व का कथन हो गया है होने पर भी अप्रतिपन्नता शिष्य को ज्ञान नहीं हो पाया यही कारण है सूक्ष्म हेतु तो क्यों आत्मा सूक्ष्म वस्तु है स्थूल वस्तु होता तो यह है अमुक वस्तु करके दिखा देते आत्मा अणोरणिया महत्व महिला महिया में सहता है सूक्ष्म वस्तु संसार में माने जाते हैं उससे भी सूक्ष्म होता है और अणिया अणु से भी अणु है ऐसा शब्द आता है और मह तो वही भी है महान से भी महान है वो ऐसी स्थिति है तो ये कारण है सूक्ष्म हेतु और वस्तु न वस्तु है आपका वस्तु सूक्ष्म है इसी कारण से ये तृतीय मंत्र का बीज बन गया शिष्य का अज्ञान पुनः पुनः परियुक्षा कारण बार बार आक्षेप करने की इच्छा को परियुक्षा बोलते हैं आक्षेप करने की इच्छा परियोग होगा आक्षेप और परियुक्षा माने आक्षेप की इच्छा बार बार आक्षेप की इच्छा कर राशि से यह पुनः पुनः बार बार अनुक्षा कारण इसका कारण कहते न न का क्षति इसलिए तो बोला भाई हम कैसे बताएं बार बार आक्षेप कर रहा है शिशु जी बोलते हैं हम कैसे होते हैं हमारा चक्षु नहीं जाती है हाँ। मन बाण नहीं जाती मन नहीं जाता कैसे बता एक गुरु का कहना है एक नंबर की कम पुनः पड़े पड़ो का कारण शिष्य वर्ग मुठेगा वेद से एक कारण पर कहने वाला कौन है कहते हैं शिष्य वर्ग मुठेगा वेद वेदिया बार बार आक्षेप कर रहा शिष्य वर्ग के मुख से शिष्य शिष्य रूप से वेद ही आश्रय कर रहा है कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ यही आप होगा आगे का परिवक्षाया पौन पुण्यम परिवहन से पवन पुण्य पुण्य है ये आक्षेप करने इच्छा का जो बार बार होना पौन पुण्य होना तो बार बार होना पर्यावरण जो है बार बार है इसी कारण से परमोक्षा भी बार बार है ये समझ कल्पनीय पुण्य कल्पनीय परिवयोग ही आक्षेप होगा परिवयोग शब्द का होता है आक्षेप तब पवन पुण्य पौनम पुण्यम से तो तक न विद्वान अभिज्ञान ये बार बार बोला गया है इसका पौन पुण्य दिया हम जानते हैं दो दो बार बोला न विद्वान अभिजाने में हम जानते जानते कैसे बताए इसी मंत्र में न विद्वान अभिजाने अनेक ही निर्विशेषण वस्तु श्रोत्राभिमान प्रवर्तक प्रवर्तकम यदि उत्तम आक्षिप्त रहे इस मंत्र से ये सिद्ध होता है कि जो न विद्वान अभिजान आदि शब्दों के द्वारा जो निर्विशेष वस्तु है आत्मतत्व निर्विशेष वस्तु है श्रोत्रादि नाम प्रवर्तकम इति उत्तम श्रोत्रादि का प्रवर्तक है द्वितीय मंत्र में कहा था स्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मन इत्यादि द्वितीय मंत्र सान्निध्य मात्र से प्रवर्तक ऐसा जो कहा गया था उसके ऊपर आक्षेप हो रहा कैसे वो प्रवर्तक बनेगा यह आक्षेप है यथा तत्र न तत्र चक्षुरादि न इसलिए कि वहां चक्षुरादि का गमन नहीं होता है इसलिए शिष्य को मुश्किल पड़ता है गच्छता तो मना आदि प्रवर्तक देना चक्षुरादि में अग्रह मानता मना आदि का प्रवर्तन होकर के चक्षुरादि के द्वारा गृहित नहीं हो रहा होने से निर्विशेषण स्रोत्रादि प्रवर्तकम निर्विशेष है स्रोत्रादि का प्रवर्तक होता है ये कहना दोनों दोनों न विद्वान न विजान में न विद्वान में सदस्य यही बोलना चाह रहे न एक संभव इत्यादि ये हो नहीं सकता है न विपन्न विचार में कहा क्योंकि निर्विशेष है मन का प्रवर्तक होता हुआ समुद्रादि के तरह ग्रेमा नहीं होता कहना नहीं बनेगा ये शिष्य का आक्षेप देंगे है अथवा कारण आहार उद्देश्य आचार्य व परिवक्षण आक्षेप करने की इच्छा का कारण क्या है आचार्य ही शिष्य परिवक्षा कारण आत्मा इंद्रिय ग्राहित्व इंद्रिया ग्राहित्व महाराज शिष्य के जो परिवक्षा का कारण आचार्य होते वेद नहीं आचार्य कहते क्या है इंद्रिय अग्राह्यत्म इंद्रिय का विषय नहीं होता यही आचार्य रूप है आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं होता ये कहा चाह रहे हैं तथा च नक्षत्र इत्यादि ना आचार्य एवं निर्विशेष से पूर्वक उत्तम इंद्रिय प्रेरकत्व अवस्तुत्व आक्षिपति गमते इसलिए नक्षत्र चक्ष गच्छति ये शब्द है तृतीय मंडल इत्यादि आचार्य ही निर्विशेष जो स्वरूप ब्रह्म है उसका पूर्वम उत्तम पूर्व में क्या बताया था स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि शब्द ने कहा गया था वो यही इंद्रिय कौन पूर्व में इंद्रिय का प्रेरणा देने वाला है कहा था सामने से प्रेरक बनता है कहा था वो अवस्थत्व आक्षेप वस्तु नहीं पा रहा है क्योंकि प्रेरणा देने वाला पूर्व में वस्तु होना चाहिए वो वस्तु सिद्ध नहीं हो पा रहा है क्या वस्तु है इसलिए आक्षेप आचार्य आक्षेप करते ऐसे जाना जाता है अच्छा। भाष्य देखिए तत्र स्त्रोत्रादि आप भूते चक्षुरादि नहीं आप सूक्ष्मत्व आह सूक्ष्मत्व हेतु आत्मवस्तु में अप्रतिपन्न होता इस सूक्ष्मता के कारण आत्मवस्तु का ज्ञान क्यों नहीं होता अति सूक्ष्म नगर नहीं आ पाता है क्षूर से धारा दुर्गत या दुर्गम पथस्तर तपोय गुणम के परम समझाएगा तो जैसे उस तरह के धार में चलना जितना कठिनाई होगी हरे धार में चलना वैसे ही आत्मा नात्मा तो विवेचन इतना सरल नहीं है इसी को आत्मा सब मान करके बैठा हुआ है इससे आत्मा को अलग करना इतना सरल नहीं है तीनों शरीर से बोलते हैं पंचकोष बोलते हैं सारा इसी में पंचकोष तीनों शरीर के अंतर्गत है जो तैतृय वंश में आता है तीनों शरीर फूल सूक्ष्म शरीर तीनों मिला के पंचकोष होता है विवेक करने की कलाएं बहुत बताई हुई है इस तरह से करना है तो सूक्ष्म होने के कारण ये बोला सूक्ष्म के रूप सूक्ष्म होने के कारण से अति सूक्ष्म है वो इसलिए आत्मवस्तु अप्रतिबंध होता आत्मवस्तु के ज्ञान न होने के कारण से शिक्षक का आक्षेप है उगते भी आत्मतत्व भी आत्मतत्व का कथन तो हो गया है द्वितीय मंत्र में स्वतंत्र शत्रुत्व इत्यादि के द्वारा किंतु सूक्ष्म होने के कारण शिष्य पकड़ नहीं पा रहा या पूर्वगुण जो बार बार आक्षेप करने की इच्छा शिष्य की बनी हुई है तस्या कारण परिपुरुषा का कारण दुर्विज्ञ तो बाहर दुर्विज्ञ है हाथ सुविज्ञ नहीं है जैसे हाथ में रखे हुए आंवला जो होता है सुविज्ञ होता है फिर हम आंवला हम ऐसा बोलेंगे आंवला है तो झूठला नहीं सकता वहां संदेह भी नहीं है और विपरीत ज्ञान भी नहीं है निश्चय है तो ज्ञान मुश्किल हो जाता है ये कारण है कारण तो भाष्य देखिए तत्र श्रोत्राणी आत्मभूते जो श्रोत्रादि का आत्मस्वरूप है जो आत्मा क्या है श्रोत्रादि का आत्मस्वरूप श्रोत्रादि उसी में कल्पित है श्रोत्रादि का जो आत्मस्वरूप ब्रह्म है उसमें चक्षुरादि में बाप चक्षुषो सर्व इंद्रियों को लक्षण तत्व न विज्ञान उत्पाद चक्षुरादि में इंद्रिया बोले मंत्र में तो वाणी और चक्षु दो है क्योंकि यहाँ पर चक्षुरादि ने कभी बहुत का प्रयोग कर दिया चक्षुरादि इंद्रिय विषय नहीं कर सकते क्यों कहते हैं बाघ और चक्षु शब्द जो मंत्र में है वो उपलक्षण के लिए उपलक्षण उसको बोलते हैं अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण कर दे उसको कहते हैं उपलक्षण या चक्षु शब्द अपना भी ग्रहण करेगी करेगा ही किंतु अपने से भिन्न ज्ञान इंद्रियों का भी ग्रहण करेगी श्रोत्रादि का भी ग्रहण करेगी इसी प्रकार बाघ माने बाघ इंद्रिय का तो ज्ञान होगा ही अन्य का अन्य जितने कर्म इंद्रिया उसका भी ग्रहण करना है और मन शब्द है तीसरा मन शब्द से मन का तो ग्रहण होगा ही बुद्धि चिंता अहंकार और प्राण ये सब लिया जाएगा अंतकरण सारे आते हैं ये कहना है तब प्रभाव जो आत्मा श्रोत्रा या भूते जो श्रोत्रादि का स्वरूप है उसमें चक्षुरादि ने चक्षुरादि जो इंद्रिया है बाप चक्षुष सर्वेन्द्रिय सर्वेन्द्रिय तत्व बाप शब्द और चक्षु शब्द सारे इंद्रियों का उपलक्षण है जैसे चक्षुरादि भी बोला हुआ है बहुत है न मतलब विज्ञान उत्पादन उसमें विज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं करा सकता जो तो विषय नहीं होगा सुखायुगत तभी गृहकांत करने में प्रश्न होगा जो चक्षुरादि बाह्य तरह के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता हो तो आयु मानते सुख का प्रत्यक्ष होता किसके द्वारा मन के द्वारा सुख आत्मा में संवाय संबंध से रहता है और मन एक द्रव्य है आत्मा का संयोग होगा और वहां पर संवाद समय सुख होता है संयुक्त संवाद समय से मन आत्मा में रहने वाला सुख का ग्रहण करता है ऐसा नहीं आई तो ये शंका है अब बाह्य कारण के द्वारा गृहित न हो तो अंतकरण के द्वारा गृहित हो सुखा ही मन तब जब बाह्य कारण काम नहीं करता है तो अंतकरण के द्वारा गृहित हो आत्मा मन आदि के द्वारा कहते हैं अंतकरण अंतकरण से गृहित हो अतः इसके उत्तर दिया लोग मन हो मंत्र का तृतीय शब्द है मन से भी ग्रहण नहीं होता न सुखायुग मनुष्य विषय तत् मैंने आत्मतत्व तत् आत्मतत्व जो आत्मतत्व है सुख सुखादि के समान मन का तो विषय नहीं होता सुख आदि तो मन का विषय बन जाता है सुख दुख आदि किंतु तो आत्मतत्व तो विषय नहीं बन सकता अच्छा क्यों कहें इंद्रिया विषय वो आत्मा जो है इंद्रियों का विषय है ही नहीं एक इंद्रिया विषयत्वाद एक इसमें ठीक है देखिए पूरे आत्मा को अनुमान देते हैं सिद्धांत अनुमान देते हैं आत्मा इंद्रिय विषय आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं होता आत्मा इंद्रिय विषय होगा आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं होता क्यों अभौतिक आत्मा भौतिक है कि अभौतिक है भूतों का कार्य है पंचभूतों तो का कार्य हो तो भौतिक कहेंगे अभौतिक अभौतिक है भौतिक नहीं है भूतों का कार्य नहीं है भूतों के कार्य को भौतिक बोलते हैं आत्मा अभौतिक है भूतों का कार्य नहीं है इसलिए इंद्र जो जो भौतिक पदार्थ होता है वह इंद्रियों का विषय होता है किंतु आत्मा अभौतिक है इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं होता ये हनुमान का करें कैसे कहते हैं नरक सामवत दृष्टान देते हैं जैसे मनुष्य में सिंह तो भौतिक है कि अभौतिक है अभौतिक है तो इंद्र का विषय होता ही नहीं होता मनुष्य में सिंह दिखाई देता ही नहीं करता नहीं इंद्र का विषय नहीं होता भौतिक भी नहीं है नर विषाण पर जैसे नर विषाण है अभौतिक होने से इंद्र का विषय नहीं बन पा रहा है ठीक इसी प्रकार आत्मा भी अभौतिक होने से इंद्र का विषय नहीं तो भौतिक कहाँ है नर में नर में तो भौतिक है क्योंकि तो मनुष्यों में सिंह है क्या जो तो नहीं है तो उसको क्या भौतिक कहेंगे अभौतिक कहेंगे मनुष्य में सिंह मनुष्य में सिंह मैं इसके सिंह नहीं बोल रहा मनुष्यों का जो सिंह है वो भौतिक है कि अभौतिक है है नहीं कहां से भौतिक होगा जिसमें हो वहां भौतिक होगा यहां तो है ही नहीं कहां से भौतिक बनेगा अच्छा कहते मनस्व इंद्रियम प्रसिद्ध कहते मन अंतकरण को या इंद्रिय कैसे कह दिया अरे मन इंद्रिय शब्द से प्रसिद्ध है लोग किंतु वेदांत परिभाषा में तो मन ने इंद्रिय का प्रखंडन किया है किंतु यहां कहते हैं मनस्य इंद्रिय प्रसिद्ध मन को इंद्रिय रूप से प्रसिद्धि है क्योंकि अनुमान इंद्रिया विषय तो, तो मन का विषय नहीं होगा इंद्रिय के अं- लेना अंतर्गत लेना होगा मन को भी इंद्रिय का विषय होने से आत्मा विषय नहीं बनता था इंद्रिय का विषय नहीं होता क्यों भौतिक अभौतिक होने से एक आता था तो मनस्थ इंद्रिया प्रसिद्ध मन इंद्रिय करके लोग में प्रसिद्धि है तो क्योंकि नैयायिक आदि मन को इंद्रिय बोलते हैं तथा तो तस्या भी अभिषय है इसलिए मन का भी अभिषय होगा क्यों तो अनुमान में बोल दिया आत्मा न इंद्रिय विषय अभौतिकत्वाद यह है इंद्रिय का विषय नहीं होता तो मन का विषय नहीं है इंद्रिय है मन भी माने वेदांत में मन इंद्रिय है कि नहीं है विचार का विषय किंतु लोक में प्रसिद्धि है उसको लेकर के बोला जिसने कहा इंद्रिया विषय एक हेतु दिया था का विषय न होने से ये सुखादिगत मन का भी विषय नहीं बनता चक्षुरादि का विषय नहीं बनता और मन का विषय नहीं बनता अब किसी का विषय नहीं बनेगा तो फिर अब उपदेश कैसे करें इसके बारे में आगे बोला न बिंदो न निजाम अंत करें न अंतकरण के द्वारा हम नहीं जानते हैं विशेष सामान्य ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान नहीं नहीं उसका संसार के पदार्थों का किसी का सामान्य ज्ञान होता है किसी का विशेष ज्ञान होता है विशेष ज्ञान किसी किसी का होगा सामान्य ज्ञान सभी का हो जाता है तो दो प्रकार में किसी एक प्रकार से ज्ञान होगा किंतु आत्मा के लिए दोनों के दोनों विषय नहीं बन पा रहे क्यों चक्षुराय इंद्रियों का विषय नहीं है विशेष ज्ञान के लिए चक्षुराय इंद्रिय चाहिए अथवा सामान्य ज्ञान के लिए मन हो मन का विषय हो कोई है ही नहीं इसे कहा न विद्वान न जानी वहां अंधकरण अंधकर के द्वारा हम जानते हैं यथा ये ब्रह्म जिस प्रकार से इत्युत्म का उपदेश हो सके यथा ये तो ब्रह्म वो ब्रह्म कैसा है मन आदि कर्म जाता मनुष्य मन आदि कर्म वर्ग को अनुशासन करे अनुशासन यदि ब्रह्म मन आदि का अनुशासन करे पूर्व मंत्र का सूर्य सहस्त्र नियामक बताया था जिस प्रकार से ब्रह्म नियामक बन सके मन आदि का वो हमको नहीं जानते एक पक्ष है दूसरा कहेंगे कि हम शिष्य को जिस प्रकार समझा सके वो हम नहीं जानते दो प्रकार की व्याख्या है पहला पहली व्याख्या यह है कि मन आदि के अनुशासन माने सानिध्य में इनको प्रेरक प्रेरणा दे सके हम नहीं समझते किस तरह से देता है यह है आपका कहना यथार्थ मनादि कर्मजातम मन आदि जो इंद्रिय समुदाय है इनका अनुशिष्या मन अनुशासन पूर्या मन आदि का अनुशासन कर सके ब्रह्म इसका नहीं समझते प्रवृत्ति निमित्त भवे मन आदि के प्रवृत्ति का निमित्त जिस प्रकार हो सके वह हम बात हम नहीं समझते ये एक है कहा अविषय को आत्मविज्ञान इसलिए अभिषय होने के कारण हम उसको नहीं जानते हैं ये कहा अच्छा ठीक है देखिए न रूपो न विज्ञान होना अभ्यास है अभ्यास मैंने बार बार कहा दो दो बार कहा इसको अभ्यास शब्द से बोलते हैं अभ्यास करो बोलते हैं मेरे लिए बार बार करना है तो दो शब्द बोला कोई है न विधवा न विज्ञान वो भी शब्द पड़े हैं तो जिसके लिए अभ्यास हुआ सर्वथा अंतग्रहण विषय को क्या बनाना किसी प्रकार से भी अंतग्रहण का विषय नहीं हो सकता ये किसको दिखाने के मन का विषय किसी तरह भी नहीं हो सकता ये तो एक इतर जागृति है आत्मा का परिचय कराना है ये नहीं कि मन विषय बना दे आत्मा को क्योंकि मन का भी व्यक्ता है सव्यक्ति व्यक्ति न की व्यक्ता शताशुत्र है सबको जानने वाला वही होता है उसको जानने वाला कोई नहीं जो लकड़ी अग्नि से जलती हो वह लकड़ी अग्नि को नहीं जला सकती वैसे यहां भी मन जिस आत्मा से प्रकाशित हो जाता हो वो मन आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता स्थिति प्रकाश करना ना तो विषय नहीं बना सकता तो न विद्वत अभिजानने के अभ्यास है जो दो दो बार बोला जो अभ्यास किया किसके लिए सर्वथा अंतकरण अभिषय तो ख्यापा अंतकरण का विषय नहीं होता है ये ख्यापन करने के लिए स्पष्टीकरण करने के लिए मतलब ये दो बार बोला ये कहा टिप्पणी तीन नंबर सर्वधारण प्रेरकत्व प्रेरता प्रेरकत्वादी रूप से किसी प्रकार से भी ये मनाली को अपने अनुशासन कर सके आत्मा स्वयं अनुशासन कर सके हम नहीं जानते यह आता है अच्छा आगे टीका में कहते हैं आक्षेप परतया व्याख्या है संभव तरफ में जाते तो आक्षेप पर व्याख्या किए पहला वर्ण व्याख्या अब कहेंगे शंका के उत्तर रूप से व्याख्या देंगे शिष्य की शंका है आचार्य उत्तर हम हाँ, आपको किस तरह से समझा सकते हम नहीं जानते शंका के उत्तर रूप से व्याख्या करते हैं अथवा भाष्य में कहा अथवा श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि लक्षण जो द्वितीय मंत्र का आता है श्रोत्र का स्रोत्र है मन का मन है पानी का पानी इत्यादि का आता है श्रोत्राधिकारी का श्रोत्रादि स्वरूप जो आत्मा है ब्रह्म विशेष विशेषण दर्शित युक्ते आचार्य अरे विशेष रूप से बताओ ना जैसे अयम गौ सामने ला के बोला रहेगा ही है इस तरह से दिखाओ सामने विशेष दर्श है विशेष में दिखाओ आत्मा को ऐसे आक्षेप होगा शिष्य के मुख से इस उत्तर में आचार्य बोलते हैं कहते हैं न सकते थे दर्शन हूं अरे बाबा दिखाया नहीं जा सकता शिष्य को समझा रहे न सकते थे दर्शन हूं दिखाया नहीं जा सकता क्यों तस्मात प्रश्न ये क्यों नहीं दिखाया जा सकता जो हमने पूछा है तो उसको दिखाओ सामने कहता है प्रश्न दिया न तत्र चक्षु रहता है जिसको दिखाना हो आंख का विषय दिखाए विषय नहीं है न तत्र चक्षु गच्छति इत्यादि न तत्र चक्षु गच्छति न बाघ गच्छति न मनो इत्यादि कहा पूर्ववत सर्वम पहले व्याख्या और इस व्याख्या में समान है बराबर है किंतु अत्र विशेष इस व्याख्या में पहली व्याख्या की अपेक्षा विशेष क्या है पहली व्याख्या है कि वेद ये ये ब्रह्म का ब्रह्म इस मनाली का अनुशासन जिस प्रकार कर सके हम नहीं जानते करके पहली व्याख्या है अब की व्याख्या में क्या है हम आपको जिस तरह से उपदेश कर सके ये हम नहीं जानते ये व्याख्या है ये ब्रह्म व्याख्या अत्र को विशेष या विशेष क्या है यथा अनुशिक्षा जिस प्रकार अनुशासन होता है उपदेश कर सके आप यही यथा एक अनुशिष्या में प्रतिपादन जिस प्रकार से प्रतिपादन कर सके सब गुरु शिष्य को प्रतिपादन कर नहीं जानते अन्योपी प्रतिपादय यथा ये तो शिष्या प्रतिपादय अन्योपी मैं नहीं जानता हूं दूसरे जानता हूं ये भी नहीं अन्य भी नहीं इसका निश्चित ये ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर सकता क्यों मन का विषय नहीं चक्षु का विषय नहीं पानी आदि का विषय नहीं अन्योपी आचार्य केवल मेरे में कमजोरी है ये नहीं सभी यही बोलना चाहता यथा ये तो शिक्षा प्रतिपादय अन्यो भी प्रतिपादय अन्य व्यक्ति भी प्रतिपादन कर सके ये बात नहीं है शिष्य को उपदेश कर सके ऐसा नहीं हो सकता ये आत्मा है करके दिखा सके कोई संभव नहीं है शिष्य अन्य की शिष्य अन्य व्यक्ति भी शिष्यों को प्रतिपादन कर सके इस धर्म का ये बातें हमने समझते ये कह रहे हैं अन्य विधिना ये हमारे तरीके से अन्य तरीके से कोई समझा सके इस आत्मा को ये यह आत्मा करके दिखा सके ये हम ऐसे प्रकार में देखते हैं हम नहीं समझते तो दूसरा कोई जानता होगा जो विशेषज्ञ कोई होगा उनको जानता हो वो बता दे यह है आपका करके हमारे जो तरीका हुआ इससे भिन्न तरीके से समझा सके हम ये कोई तर्क नहीं समझते ऐसा नहीं जानते ये सर्वनाथ ब्रह्म बोधा ही किसी प्रकार को बताओ ब्रह्म के उपदेश करो हम उसको जानना चाहते हैं सर्वथा के सब एक एक प्रकार किसी भी प्रकार से बताओ ऐसा कहने पर कहा अच्छा तब सुनो अन्यदेव तदविदिता पथोविदिता नदी इति बोला भाई हमने ऐसा सुना है गुरु परंपरा को आगम बोलते हैं आगम बाटी के द्वारा हमने सुना है क्या सुना है वो विदित से अन्य है अंतित से अन्य है हमने ऐसा सुना है अगर समझना है तो इसी तरह से समझ लो यही है कहा सर्वथा जो ब्रह्मबोध है उस ब्रह्म का ज्ञान कराओ किसी भी प्रकार से ऐसे शिष्य के द्वारा आक्षेप होने पर युक्ति आचार्य आचार्य कहते हैं क्या कहते हैं आचार्य रूप से श्रुति बोलती है अन्य देव तत्ता रही आगम या आगम है परंपरा गुरु शिष्य परंपरा को आगम शब्द से बोलते हैं क्या आगम वाक्य बता दिया ठीक है इतना उपलक्षण प्रकार अन्य प्रकार न सत्य के दर्शय भाष्य कथा यथा एक अनुशिष्या प्रतिपादय अन्यों की शिष्यान इतो अन्य विधि न ये विधि से भिन्न विधि गीता माने हमारे हमने जो तरीका बताई इसे अतिरिक्त विधि के द्वारा वो बता सके कि हम शिष्य को उपदेश कर सके ऐसा हम नहीं जानते ये कहा यही है गीता उपलक्षण प्रकार उपलक्षण है उपलक्षण द्वारा जाना जाता है किंतु सीधा विषय ज्ञान का नहीं बनाया सकता बनाया जा सकता उपलक्षण के द्वारा तो जाता है सिद्धि आए सूत्र से स्रोत्रम इत्यादि उपलक्षण के द्वारा क्या ज्ञान कराया गया था आत्मा का तो स्रोत्र का साक्षी है आत्मा हो तो स्रोत्र काम नहीं कर सकती इत्यादि बताया था यह अन्य प्रकार से न शक्य थे तुम एक उपलक्षण एक प्रकार है इसे अतिरिक्त प्रकार से कोई दिखा नहीं सकता आत्मा को क्यों क्रिया गुणादि विशेष शून्यता दिख जाता विशेष रूप से समझाने के लिए चार में से कोई एक चाहिए जाति गुण क्रिया संबंध कोई तो चार में से एक हो तो अमुक व्यक्ति है परिचय कराया जा सकता है आप में चारों के चारों नहीं है यही है क्रिया गुण विशेष सुंदर क्रिया गुण गुणादि जो है क्रिया गुण हाँ, और संबंध जाति संबंध का अभाव है वहां इसलिए विशेष कहना संभव है उपलक्षण प्रकार वही है जो स्रोत्र सत्स्रोत्र मानसो मना इत्यादि बोला वही है उपलक्षण प्रकार आगमन है ये अविता अधिक आगमन भाष्य में आगम शब्द का क्या है कहते हैं आगमन उपदेश आगम करके महासम उपदेश की परंपरा को आगम कर आह आह के साथ में संबंध कर देना आप पूर्व में है आगम आह आचार्य आह इस प्रकार में होता है आगम से अगम आह आगम का क्या अर्थ होता है हम पूजा आगम कहा क्या होता है वो तो कहते भाषण में कहा विदित अभिता ज्ञान अन्य कौन विदित और अविदित से अन्य है आत्मा ब्रह्मा विदित पदार्थ से भी भिन्न है अविदित पदार्थ से भी भिन्न है ये कहा ठीक है अन्य आत्मनो विदितम अविदितम भाष्य आत्मा से भिन्न जितने होंगे संसार में आत्मनो अन्य आत्मा से अन्य जो भी वस्तु होगा संसार में वह या तो विदित कोटि में होगा या अविदित कोटि में होगा या तो कोई ज्ञान का विषय बनेगा कोई ज्ञान का विषय नहीं बनेगा आत्मनो अन्य आत्मा पंचमी अन्य प्रथमा आत्मा से जो अन्य वस्तु होगा विदितम अविदम भाष्य तो विदित हो सकता है अथवा अविदित हो सकता है जो विषय होगा आत्मा से अन्य वस्तु और वो विदितत्व अविदितत्व से रहेगा आत्मा ने दोनों का निषेध किया आत्मा विदित भी नहीं है अविदित भी नहीं विदितत्व धर्म और अविदितत्व धर्म का निषेध के द्वारा आत्मा ने आत्मा को अन्यत्र ब्रह्मत्व विदिशा विधिवत आत्मा ये जो आत्मा से अन्यत्र ब्रह्म है ऐसे ज्ञान की निवृत्ति करा रहे हैं अन्य में आत्मा से अन्य में ब्रह्मत्व का निषेध विवेकी के लिए अविवेकी तो नहीं समझ समझ समझ सकेगा लेकिन तो विवेकी लिए कि आत्मा से अन्य प्रमाण ये जो आत्मा कहा इससे भिन्न में ब्रह्मत्व का उपयोग नहीं होगा विवेकियों को अन्य विदुषाम तो विद्वत विद्वान के लिए विवेकी के लिए आत्मा से अन्य में ब्रह्मत्व का निवृत्ति करके निवृत्ति करा है आत्मा ब्रह्म बहुत ही करते आत्मा ही ब्रह्म है ये उपदेश होता है यही उपदेश किया है ये समझना यही होगा ज्ञान की दृष्टि से ऐसा होगा विदुषाम क्षेत्र में टिप्पणी है विदुषाम विदित वपनाम और अन्यत्र ब्रह्मत्व न बहुगोत्र जो ज्ञानवान है जो आत्मा के विषय में जानकारी रखते हैं उपलक्षण के माध्यम से जानते हैं आत्मा को उनके यहाँ विद्युत वपनाम ज्ञानियों के लिए आत्माओं अन्यत्र ब्रह्म न बहुगोत्र आत्मा से भिन्न में ब्रह्म बुद्धि नहीं होती उनकी आत्मा को ही ब्रह्म रूप से समझते हैं वो विवेकी लोग आत्मा में यह यही ब्रह्म रूप से समझते हैं विवेक माना इसको फिल्टर करेंगे छानबीन करते करते तीनों शरीरों से अलग करेंगे तब उस स्थिति में बोलेंगे हम नहीं ये बोलते हैं विद्वान लोग ऐसा बोलते हैं अच्छा विदुषा विद्युत प्रमाण आत्मन अंतर ब्रह्मत्व न बहुगोचरम माने विवेकी के लिए आत्मा से अपने से भिन्न में ब्रह्मत्व का अनुभव नहीं होता अनुभव गोचरम न हाँ। इतव विद्युत अनुभवेगा इस प्रकार से विद्वानों का अनुभव होने से अपने को ही ब्रह्म समझते हैं लोग तो विद्वत अनुभव विद्वानों का अनुभव होने से आत्मा अन्यत्र ब्रह्मत्व विधिवत इत्यर्थ आत्मा से भिन्न में ब्रह्मत्व का निषेध करना ये दो वाक्यों के द्वारा विद्युत से भिन्न है अविदित से भिन्न करके आत्मा से भिन्न दो ही पदार्थ है संसार के पदार्थ या विद्युत या विदित वो ब्रह्म नहीं है ये अर्थ करना है तो दोनों में विनिवृत्त हो गया तो एक ही पदार्थ बचा हुआ है अब क्या बचा है आत्मा तो ब्रह्म क्या है आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है बुद्धि होगी तो भिन्न है दो वो विदित भी नहीं है अविदित भी नहीं ब्रह्म में कहा तो आत्मा ही ब्रह्म है सिद्ध हो जाएगा ये सिद्ध होगा ये कहा अच्छा ठीक है विदित अमृत रुद्रमा कहते विदित से आत्मा अन्य है इसमें तर्क देते हैं युक्ति मैंने तर्क देते हैं युक्ति में आह आत्मा ब्रह्म जो है विदित से अन्य है भिन्न है इसमें युक्ति देते हैं आशा सात में रुचि पढ़ते ननु अन्य आत्मा विदितम अधिकम पाश्या विधि उत्तम असत कहते आत्मा में आपने जो बताया विदित या अविदित से भिन्न है ये जो कहा विदितम अविदितम अन्य विदित से भी भिन्न है अविदित से भिन्न कहा ये जो कहा ये ठीक नहीं है पूर्ववादी शंका करता है नौ अन्य आत्मा आत्मा से भिन्न जो विधि या अभिदित होता है ऐसा कहा यदि उत्तम असत युक्ति बड़ी मिल गया आत्मा से भिन्न वस्तु विदित होता है अथवा अभिदित होता है करके जो आपने बताया वो ठीक नहीं क्यों युक्ति नहीं है इसमें खाली शब्द बोले सर युक्ति से सिद्ध करना पड़ेगा युक्ति नहीं है युक्त वैधुर्या मानी युक्ति रही तत्व वैधुर्य मानी रही युक्ति का अभाव है आत्मा से भिन्न वस्तु दो ही प्रकार में होते हैं विदित या अविदित दो ही होते हैं जो आपने कहा ये ठीक नहीं क्यों युक्ति नहीं है युक्ति का मान युक्ति अभाव युक्ति का अभाव है इसमें अतः आत्मनोपी आदि संभव आत्मा में भी तो विदितत्व अभिदित तो हो सकता है ना हाँ, आत्मा से भिन्न क्यों विदित मानेंगे अभिदित मानेंगे आत्मा भी विदित हो सकता है आदि संभव विविधत्व अभिजत्व जो में से कोई एक आत्मा भी हो सकता है संभव विदितादि अन्यत्व उपया विदिता विदित विदितादि का अन्यत्व कहा आत्मा विदित से भिन्न अविधि से भिन्न कहा इस युक्ति से न आत्मा ग्रहित सत्य इस युक्ति के माध्यम से आत्मा को लेना ठीक नहीं होगा आत्मा पकड़ नहीं आएगा यदि आशंक्य आत्मा इत्यादि ऐसे संग्रह करेगा आत्मा इत्यादि लगा करके बोल दिया आत्मा विदिता अंत आत्मा शब्द को आदि में जोड़ रहे आत्मा जो टिप्पणी में अंतिम में है टीका के आदि में लगा देना आत्मा विदिता अंत युक्ति महाभाव पूर्वादि ने कहा था युक्ति नहीं है टिप्पणी में कहते युक्ति बताते हैं टीका में बताया आत्मा को विदित से अन्य है में युक्ति बताते हैं क्या है भाषण का यो ही ज्ञाताशय बस विदित होता है से अपने से ज्ञाय पदार्थ विदित होता है ज्ञान देना और आत्मा क्या है ज्ञाता है इराम पुस्तक में विदित होता है ये ज्ञ है ज्ञान वस्तु विदित होता है आत्मा ज्ञ नहीं है ज्ञाता है जो ज्ञाता है इसलिए आप ये विधि से भिन्न है ये सिद्ध हो जाता है ज्ञाता विदित नहीं होता ज्ञ विदित होता है अपने ज्ञान का विषय किसको बनाएगा ज्ञेय वस्तु को बनाएगा वो विदित होगा एक यो ही ज्ञाता जो ज्ञाता है शायद स वही है ये इसके विधि से भिन्न है ये सिद्ध होगा सही स एक नंबर टिप्पणी ज्ञाता एवं ही आत्मा इत्यादि ज्ञाता ही तो आत्मा है ज्ञाता विषय से भिन्न विधि से भिन्न होता है या अभिन्न होता है भिन्न होता है वो तो ज्ञाता ही तो आत्मा है इसलिए विधि से भिन्न हो गया यही युक्ति दिया यो ही ज्ञाता सैव सर वही तो आत्मा है ज्ञाता ही तो आत्मा है एक कहा लेना ज्ञाता एवं ज्ञाता एवं सब है आत्मा यो ही ज्ञाता स सर ज्ञाता एवं आत्मा ये होता क्यों सर्वात्मकत्वा भेद देते हैं आत्मा ज्ञाता ही होता है क्यों सर्वात्म रूप होने से सर्वात्म तत्व चिपन देखे तो अच्छा एक तब अहम अस्मी जाना यदि ज्ञात रहेगा आत्मत्व अनुभव से सर्वभिवृतत्व अभिभाव तब अहम अश्मी ऐसा रूप होता है मैं हूं अहम अस्मी मैं हूं ऐसा बोलता है हर व्यक्ति सभी लोग एक चर्चा होती है कहा अस्मी मैं हूं यदि जानना ऐसे से तो जानने वाला व्यक्ति ज्ञाता है यदि ही वह आत्मत्व अनुभव से अहम अस्मी लगाता है ज्ञाता में ही आत्मत्व का अनुभव होता है आत्मत्व के अन्यत्र अनुभव नहीं होगा ज्ञाता में ही होता है अनुभव से सारा सभी लोग की सिद्धा ही है अहम अस्मी यही शब्द बोलते हैं तो जो ज्ञाता है उसी को ही आत्मशब्द का प्रयोग होता है दोनों प्रतिबंधन ब्रह्म अस्तु ज्ञाता है बात ठीक है यही भी ज्ञाता से वैसे आपने कह दिया ज्ञाता का आत्मा समझ लेंगे आप कोई बात नहीं पूर्व शंका करता है नो अस्तु ज्ञाते ही आत्मा चलो मान लेते हैं ज्ञाता को आत्मा मान लेते हैं तथापि वो ज्ञाता आत्मा अपरेगा आत्मा ज्ञाता ज्ञाते एक वो भी जय बनेगा आत्मा ज्ञाता भी जय बनता है एक ज्ञाता आत्मा दूसरे आत्मा के विषय बन जाएगा यह आत्मा को जानने वाला दूसरा आत्मा होगा फिर उसको जानने वाला तीसरा आत्मा होगा तो विषय बढ़ जाएगा जय बने विदित हो जाएगा ज्ञाता भी विदित होता है अन्य के द्वारा किस द्वारा स्वयं बने अन्य के द्वारा ज्ञात होगा ये पूर्वादी शंका करता है यही शंका है नमस्तु ज्ञाता होगा आत्मा ज्ञाता ही आत्मा ठीक है आपने मान लिया फिर भी विदित हो जाएगा ज्ञाता भी विदित होता है क्यों तो कहा तथा एक को ज्ञाता एक जो ज्ञाता है पहला जो ज्ञाता होगा वह आत्मा ज्ञाता आत्मा अपरे आत्मा ज्ञाता जो दूसरे आत्मा होगा ज्ञाता उसका विषय बन जाए ज्ञान एक तो एक और ज्ञान का विषय बन ही जाएगा दूसरे व्यक्ति इसको पहचान लेता दूसरा आत्मा इस आत्मा को जान लेगा सर्वत्र आत्मस्वरूप जयत्व संवाद इस प्रकार से चार में न्याय लगा करेंगे क्या होगा सब आत्मा में जयत्व आ जाएगी तो विदित हो जाएगा तो अविदित कैसे कहा आत्मा विदित हो जाएगा जो गैर होता है वस्तु बनेगा वो तो विदित ही होगा यही पूर्वाधिक की शंका संवाद विदित अन्यत्व असंभवी विदित तत्व का असंभव है आपने कहा आत्मा में ये असंभव है विदिता अन्यत्व जो कहा था असंभव है असंभव अस्थित असंभवी असंभव है यदि कहा जाए यदि आसंग ऐसी शंका करवा करके कहा अरे बाबा सर्वात्मकत्व तो सर्वरूप है जितने ज्ञाता मानोगे यही आत्मा से भिन्न कोई आए नहीं एक ही रूप है सर्वरूप तो सर्वात्मक यदि आए तो सर्वात्म रूप सर्व सभी आत्मस्वरूप है इसका सर्वम ज्ञात्री ज्ञाता जितने भी ज्ञाता वर्ग है संसार में ये ज्ञाता वो ज्ञाता वो ज्ञाता जितने भी ज्ञाता है ज्ञाता मन समुदाय ज्ञान समुदाय जितने भी है आत्मा स्वरूपम यश्य सर्वम माने आत्मा मैंने स्वरूपम यश्य सभी स्वरूप है जिसका स्वरूप समाज करता सर्वम आत्मा मैंने स्वरूपम यश्य तत्व तत्व ने सर्वात्मा तत्व क्यों श्रुति है सभी में एक ही आत्मा है श्रुति बोलती वो विवाह सब भूतेश गुढ़ ऐसा कहा एक ही देवता है सभी भूतों में छिपा हुआ है एक ही देवता है देवता अनेक नहीं हो आत्मदेव एक ही होता है अन्य देवता तो बहुत सारे हैं किंतु तैतीस करोड़ बोलते हैं आत्मदेव एक है एको देवा सर्वभूतेश गुण सारे भूतों में छिपा हुआ जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है उसको प्रकट किया जाता है अग्नि के माध्यम से लकड़ी में अग्नि होती है आपको उसको रगड़े के खूब रगड़ने के दो चिंगारी आ जाएगी अग्नि को जलाएगी लकड़ी को जलाएगी किंतु अब पता नहीं है ऐसे ही सभी देव सभी भूतों में छिपा हुआ एक ही आत्मा है एक वो देव से बूढ़ा इस प्रकार मान्यत तो अपस्त दृढ़तात्म का इस आत्मा से भिन्न दृष्टा कोई है नहीं अतः मैंने अस्मात आत्मा अन्य इस आत्मा से भिन्न कोई दृष्टा नहीं सबके साक्षी यही होता है दृष्टा यही आत्मा होता है इत्यादि श्रुतिभ्यो ज्ञातु भेदाभाव ज्ञाता का भेद हो हो ही नहीं सकता एक ही आत्मा है सभी भूतों में छिपा हुआ कहा और इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं कहा इत्यादि शब्दों के द्वारा ज्ञाता में भेद का अभाव होने से न उक्त शंका होता रहती एक ज्ञाता दूसरे ज्ञाते को जान लेगा ऐसा संभव नहीं है ऐसे शंका करना संभव नहीं है ये संभव नहीं है भाष्य में आगे होता है अथवा सर्वात्म ज्ञापन ज्ञापन प्राभाव उससे सर्वात्म स्वरूप ज्ञाता है उसके अन्य ज्ञाता होता नहीं है ज्ञाता का ज्ञाता होता नहीं क्यों सर्वात्म रूप है सभी स्वरूप वही है और सर्वात्म ज्ञापुर ज्ञापन प्राभाव इस ज्ञाता का अन्य ज्ञाता का अभाव होने के कारण विदित अन्य विदित है अन्य हो गया कोई भी इसको विदित नहीं बना पाता ज्ञान का विषय नहीं बना पाता इस आत्मा को इसलिए क्या होगा विदित से अन्य सिद्ध होगा स्मृति ने कहा था कि अन्य देव तदविदिता ये सिद्ध हो गया एक आदिविता में कौन देगा तीन नंबर से उगता मेरे छोटे ना जो सर्वात्मक तो आपने कहा था उसी को स्पष्टीकरण करते हैं आगे कहा एक स्पष्टीकरण किया अतः सर्वात्मक ज्ञातो ज्ञापन प्राभाव आदि कहा एक ज्ञाता का दूसरा ज्ञाता है नहीं यहाँ मोहन से विदित से अन्य सिद्ध हो गया एक आता अतः आत्मा ज्ञात आत्मा एवं ज्ञातृत्व आत्मा ही ज्ञाता है आत्मा एक अनात्मा से अनात्मा नाना भी नहीं है आत्मा नाना भी ना अनेक नहीं है आत्मा एक ही आत्मा है एक देव सर्वभूतेश स्मृति है नाना भी ना चेता अच्छा, एक पर भी वही है अनाना है नाना नहीं अनाना है आत्मा अनाना मैंने एक है अयम से अपना प्रयोग विवक्षित है कहते हैं अनुमान विवक्षित है आत्मा एक ही है करके क्या अनुमान है प्रयोग में अनुमान क्या है आत्मा विदिता अन्य आत्मा पक्ष होगा आत्मा विदिता अन्य साध्य होगा विधि से भिन्न है आत्मा विदिता अन्य है विदिता अन्य साध्य होगा ज्ञातृत्व ज्ञातृत्व होने से अब अन्य दृष्टांत तो दे नहीं पाएंगे या प्रयत्न ज्ञातृत्व हम तो आत्मा एक ही है दूसरा होता तो हम जैसा बोलते अन्य दृष्टांत दे नहीं पाएंगे तो विद्रेक दृष्टांत होगा यत्र विदित अभाव तत्र अभाव ऐसा विपरीत दृष्टांत मिलेगा जहां विदित तो विदित अन्यत्व का अभाव रहेगा तो विदितत्व रहेगा क्या रहेगा विदितत्व रहेगा विदित्व तो, विदितत्व अन्यत्व का अभाव विदित अन्यत्व का अभाव मैंने विदितत्व रहेगा वहां ज्ञातृत्व का भी अभाव है जैसे घटादी में घटादी विदित है विदित अन्य अन्य है कि विदित अन्य से भिन्न है विदित अन्य से भिन्न है कि अभिन्न है विदित अन्य से घटादि भिन्न है अभिन्न है विद्युत अन्य से भिन्न विदित है विदित अन्य से विद्युत से जो अन्य होगा उसको विद्युत अन्य बोलेंगे उससे भिन्न है तो भिन्न जो होगा वहां ज्ञातित्व का भी अभाव रहेगा हाँ, जो विदित होगा वह ज्ञाता नहीं हो सकता है यही होगा घटादि वक्त घट में विदित अन्यत्व का अभाव है क्या अभाव है विदिता अंधत्व का अभाव है यानी विदितत्व है तो वहां ज्ञापित तो भी नहीं है यही होगा यह अथवा दूसरी व्याख्या करना इसका सर्वात्मा का सर्वम आत्मजातम जितने भी अनात्म वर्ग हैं आत्मा से भिन्न को अनात्मा कर अनात्म जातम मैंने वर्ग समुदाय जात समुदाय समुदाय अनात्म वर्ग जितने भी हैं स्वरूपम अध्यस्तत्व आत्मा अनुकृतम स्वरूप में अभ्यस्त होने से आत्मा स्वरूप में अभ्यस्त है सारे के सारे अनात्म पदार्थ आत्मा में कल्पित है जैसे रज्जु में सर्प अभ्यस्त है कल्पित है उसी प्रकार अनात्म वर्ग आत्मा में कल्पित होने से एक तो आत्मा से भिन्न नहीं होते कहना चाहते हैं यश अधिष्ठान होते से जिस अधिष्ठान बोध का आत्मा ही है ये आत्मा से भिन्न नहीं है सारे का सारा पदार्थ अनात्म पदार्थ आत्मस्वरूप स्वरूप है तत्व हाँ, मन सर्वात्म तत्व होगा ज्ञाता होगा आत्मा ज्ञाता ही आत्मा होता है यथाश्रोत है वह हेतु द्वारा ज्ञाते हुए आत्मा जो ज्ञाता होता है वही आत्मा होता है ज्ञेय पदार्थ आत्मा नहीं हो सकता एक आत्मा अध्यस्त जड़ जड़जात से जितने भी जड़वर्ग हैं अध्यस्त आत्मा में आरोपित है वास्तव में है ही नहीं अगर ये जड़वर्ग हो हमें समाधि तो दूर रही किंतु सुसुप्ति में मिलना चाहिए तो सुसुप्ति तो प्रतिदिन हमको उपलब्ध है हम जब अभी जागृत में हैं और कुछ ही देर के बाद हम स्वप्न में चल जाएंगे जो जागृत में हम हैं वही स्वप्न में जाएंगे क्योंकि शरीर बदल जाएगा ये शरीर यहीं छोड़ देते हैं हम दूसरे शरीर को लेकर के हम घूमते हैं स्वप्न वाला शरीर या शरीर यह जैसा लगता है कि नियम नहीं होता कभी कभी बारिश से भीग जाते हैं स्वप्न में तो यह शरीर भीगा हुआ है कांपता हुआ है ऐसा दिखता है किंतु इधर जब जगते हैं तो पसीना से लथपथ हो जाता है ऐसा हो जाता है तो ये शरीर वो शरीर भेद है ये शरीर यही है वहां नहीं जाता किंतु जो आत्मा जागृत है वो स्वप्न में जाएगा आत्मा वही होता है किंतु कुछ काल के बाद उससे भी हम ऐसी एक स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां किसी का भी ज्ञान नहीं होता कोई विशेष ज्ञान नहीं विशेष ज्ञान होगा सामान्य ज्ञान रहेगा विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है उसको कहते हैं सुसुप्ति न शरीर का ज्ञान है न इंद्रियों का ज्ञान है न अन्य वस्तु का ज्ञान है किसी का भी ज्ञान है किंतु अपना ज्ञान रह जाता है तो जगने के बाद बोलता है सुखम अहम स्वाप समझ चिंता एक शब्द बोलता है जगने पर प्रमाता बन करके बोलता है वहां साक्षी भाव से समझ रहा था जहाँ इंद्रिया मिल जाती है जानवत में तो प्रमाता बन के बोलता है मैं आराम से रहा मैं कुछ भी मुझे पता नहीं लगा मैं कुछ भी पता नहीं लगा मैं अज्ञान का अनुभव करके आ रहा है सुश्रुति में अज्ञान है ये सिद्ध होता है तो ये तीनों काल में घूमने आत्मा घूमने वाला आत्मा एक होता है शरीर का व्यविचार है जागृत जागृत शरीर स्वप्न में नहीं है स्वप्न शरीर जागृत में अभाव है व्यविचार इसको बोलते हैं और सुसुप्त में दोनों का व्यविचार है दोनों का अभाव है आत्मा का कहीं अभाव नहीं है अध्यस्त जलयादस्य अध्यस्त जो आरोपित पदार्थ हैं ये शरीर आदि संसार जितने भी हैं जड़वर्ग जितने भी इसका अधिष्ठान का भाष्य का अधिष्ठान जो चेतन है उसी के द्वारा भाष्य होता है जड़वर्ग जितने भी हैं चेतन ही के द्वारा ही प्रकाशित जो अधिष्ठान के द्वारा ही आरोग्य पदार्थ प्रकाशित होता है अयम सर्प करके बोला जाता है वो रज्जु के द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है इधम ईदमांस रज्जु का है जो अधिष्ठान के द्वारा ही प्रकाशित है सत्ता स्फूर्ति जो प्राप्त करता है ये आरोप पदार्थ अधिष्ठान के सत्ता है इसलिए ज्ञाता है वो अधिष्ठान भूत आत्मा जो ज्ञाता है अधिष्ठान भूत आत्मा वही आत्मा ज्ञ आत्मा को ज्ञाता ही होता है जय नहीं होता ये टिप्पणी का ज्ञाता है वो आत्मा न सर्वाधीन सर्वाधिक अब ये अनुमान देते हैं अरे बाबा आत्मा ज्ञाता ही है आत्मा ज्ञाता ही वह न ज्ञेय आत्मा ज्ञाता ही है ज्ञेय नहीं है क्यों सर्वाधिक सर्वाधिष्ठान तो सबके अधिष्ठान है आरोपित पदार्थ जितने भी सबके अधिष्ठान होने से वो ज्ञाता ही होता है ज्ञान नहीं हो सकता यज्ञ एवं तम एवं व्यग्री दृष्टान्त जो ऐसा नहीं हुआ जो जय का अभाव का अभाव रहेगा जय बनेगा वह सर्वाभिमत्व का अभाव रहेगा ऐसा रहता है तो जय का अभाव का अभाव है जय रहेगा और सबका अभिष्ठान भी नहीं बनता था जलादि यज्ञों का अभिष्ठान बनेगा सबका अभिष्ठान भी नहीं बन सकता यदि युक्ति अवगंतव्य ऐसी युक्ति जाना चाहिए तो भाष्य चल रहा था अतः सर्वात्म ज्ञात्र ज्ञात्र धराभाव विदिता अन्यतम क्योंकि सव्यक्ति व्यक्तियों वेद्यम तो तस्यास्ति व्यक्ता ऐसा है एको देव सर्वभूते से बुढ़ा सर्वसाक्षी निर्गुण केवल सव्यक्ति वेद्यम अपान पारो तो धरणो दहिता पश्चित चक्षु सश्रोत करो सव्यक्ति वेद्यम मतलब तस्यास्ति वेदता तमाहु रजन पुरुषम मानता ऐसा कहा श्वेता शुक्र पुरुष ने कहा है सब व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति जो व्यक्ति वर्ग व्यक्ति वर्ग है सब उसको ही जानता है सबको न तो कश्य अस्त व्यक्ता उसको जानने वाला कोई नहीं है सबका जानता वही ये तो सिद्ध होता है आत्मा को एक कहा तो मंत्र वाला मंत्र वर्ग है कौन श्वेता सूत्र परिसर है साक्षात प्रगति आत्मा विद्युत अनुमत युक्ति मुक्वा श्रुति आत्मा विधि से भिन्ना युक्ति तो बता दिया तो अब आज श्रुति का बता रहे हैं कहा सभ्य व्यक्ति तपस्या से सभ्यता श्रुति को बताया और विख्याताराम अरे केन भी या ऐसा मैत्री को या केवल ने कहा अरे सबको जानने वाले को किससे जानोगे सबके साक्षी को किससे जानोगे अरे मैत्री विज्ञातारम केन भी या सबका जो ज्ञाता है सबको जानने वाला है काम काम कर रहा है कर रही नहीं कर रहा है स्रोत इंद्रिय कर रही नहीं से काम कर रही जान रहा है उसको किससे जानोगे चक्षु से जानोगे ये कहा जी बाढ़ में एक ऐसा बाढ़ में गिरदार वो से कहा है इत्यादि कहा समय हो गया है फिर आ गया ओमाप्यायन्तानि चक्षुस्तोत्रबलोपलन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माम् ब्रह्मया नामा ब्रह्मया करोदया कर्मस्त्वया ते वै सन्तु ॐ शान्ति शान्ति